Rosho talk Es Dhammo Sanantano number twenty तीसरा प्रश्न इस प्रवचन माला में आपने कई बार कहा है एस धम्मो सनंतनो यही सनातन धर्म है और आश्चर्य तो यह है कि वह हर बार नए रूप में आपके द्वारा प्रकट हुआ है क्या सनातन धर्म एक है या अनेक धर्म तो एक है लेकिन उसके प्रतिबिंब अनेक हो सकते रात पूरा चांद निकलता है सागरों में भी झलकता है सरोवरों में भी झलकता है छोटे छोटे डबरों में भी झलकता है प्रतिबिंब बहुत है सागर में बता के भी मैंने तुमसे कहा एस धम्मो सनंतनो छोटे सरोवर में भी बता के कहा एस धम्मो सनंतनो राह के किनारे है वर्षा में भर गए डबरे में भी बता के कहा एस धम्मोसानंतनो मैंने बहुत बार कहा बहुत रूप में कहा लेकिन वे सब प्रतिबिंब हैं और जो चांद है वो तो कहा नहीं जा सकता इसलिए तुम और उलझन में पड़ोगे मैंने जब भी कहा एस धम्मो सनातन यही सनातन धर्म है तभी प्रतिबिंब की बात कही प्रतिबिंब में मत उलझ जाना इशारा किया इशारे को मत पकड़ लेना और जो है ऊपर वो जो चांद है असली उसकी तरफ कोई इशारा नहीं किया जा सकता अंगुलियां वहां छोटी पड़ जाती शब्द वहां काफी सिद्ध नहीं होते और फिर उस चांद को देखना हो तो तुम्हें गर्दन बड़ी ऊंची उठानी पड़ेगी और तुम्हारी आदत जमीन में देखने की हो गई तो तुम्हें प्रतिबिंब ही बताए जा सकते हैं लेकिन अगर प्रतिबिंब कहीं तुम्हारे जीवन का आकर्षण बन जाए कहीं प्रतिबिंब का चुंबक तुम्हें खींच ले तो शायद आज नहीं कल तुम असली की तलाश में भी निकल जाओ क्योंकि प्रतिबिंब तो खो खो जाएगा जरा हवा का झोंका आएगा झील कब जाएगी और चांद टूट के बिखर जाएगा तो आज नहीं कल तुम्हें यह ख्याल आना शुरू हो जाएगा जो झील में देखा है वो सच नहीं हो सकता सच की खबर हो सकती है सच की दूर की ध्वनि हो सकती है प्रतिध्वनि हो सकती है प्रतिबिंब हो सकता है लेकिन जो झील में देखा है वो सच नहीं हो सकता शब्द में जिसे कहा गया है वो सत्य नहीं हो सकता लेकिन सत्य में जिसे कहा गया है वो सत्य का बहुत दूर का रिश्तेदार हो सकता है मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि एक मित्र ने दूर गांव से एक मुर्गी भेजी मुल्ला ने शोरबा बनाया जो मुर्गी को लेके आया था उसे भी निमंत्रित किया कुछ दिनों बाद एक दूसरा आदमी आया मुल्ला ने पूछा कहां से आए उसने कहा मैं भी उसी गांव से आता हूं और जिसने मुर्गी भेजी थी उसका रिश्तेदार अब रिश्तेदार का रिश्तेदार आया था तो उसको भी ठहराया उसके लिए भी सौरभा बनवाया लेकिन कुछ दिन बाद एक तीसरा आदमी आ गया कहां से आ रहे हो उसने कहा जिसने मुर्गी भेजी थी उसके रिश्तेदार का रिश्तेदार ऐसी तो संख्या बढ़ती चली गई मुल्ला तो परेशान हो गया तो मेहमानों का सिलसिला लग गया मुर्गी क्या आई तो लोग चले ही आते हैं पूरा गांव आने लगा आखिर एक आदमी आया उससे पूछा कि भाई आप कौन है उसने कहा जिसने मुर्गी भेजी थी उसके रिश्तेदार का रिश्तेदार का रिश्तेदार का मित्र मुल्ला ने सोरबा बनवाया उस मित्र ने चखा लेकिन वो बोला ये सोरबा ये तो सिर्फ गर्म पानी मालूम होता है मुल्ला नसुद्दीन ने कहा ये वो जो मुर्गी आई थी उसके सोरबे के सोरबे के सोरबे का मित्र है दूर होती जाती हैं चीजें मैंने तुम्हें झील में दिखाया तुम ऐसा भी कर सकते हो कर सकोगे नहीं करोगे ही तुम झील के सामने एक दर्पण करके दर्पण में देखोगे क्योंकि जब मैं तुमसे कहता हूं तुम मुझे थोड़ी सुनोगे तुम्हारा मन उसकी व्याख्या करेगा जब मैंने कहा तभी चांद दूर हो गया मैं जब देखता हूं तब चांद है जब मैं तुमसे कहता हूं तब झील में प्रतिबिंब है जब तुम सुनते हो और सोचते हो तब तुमने झील को भी दर्पण में देखा फिर दर्पण को भी दर्पण में देखते चले जाओगे ऐसे सत्य से शब्द दूर होता चला जाता है इसलिए बहुत बार जिन्होंने जाना है वो चुप रह गए लेकिन चुप रहने से भी कुछ नहीं होता जब तुम कह कह के नहीं सुनते हो जगाए जगाए नहीं जगते हो तो चुप बैठने को तुम कैसे सुनोगे जब शब्द चूक जाता है तो मौन भी चूक जाएगा जब शब्द तक चूक जाता है तो मौन तो निश्चित ही चूक जाएगा फिर भी जो कहा जा सकता है वो प्रतिध्वनि है इसे याद रखना उस प्रतिध्वनि के सहारे मूल की तरफ यात्रा करना तीर्थ यात्रा करना तंग था जिसके लिए हरफे बयां का दायरा वह फसाना हम खामोशी में सुना कर रह गए शब्द छोटे पड़ जाते हैं दायरा छोटा है तंग था जिसके लिए हरफे बयां का दायरा कहने की सीमा है जो कहना है उसकी कोई सीमा नहीं गीत की सीमा है जो गाना है उसकी कोई सीमा नहीं वाद्य की सीमा है जो बजाना है उसकी कोई सीमा नहीं वह फसाना हम खामोशी में सुना कर रहते हैं लेकिन खामोशी तो तुम कैसे समझोगे शब्द भी चूक जाते हैं हिलाए हिलाए तुम नहीं हिलते नींद से जगाए जगाए तुम नहीं हिलते नींद से शब्द तो ऐसे हैं जैसे पांच मिनट की घड़ी में अलार्म बजता हो तब भी तुम नहीं जगते तो जिस घड़ी में अलार्म नहीं बजता उससे तुम कैसे जगोगे तो बहुत ज्ञानी चुप रह गए बहुत ज्ञानी बोले चुप रहने वालों को तुमने समझा जानते ही नहीं बोलने वालों से तुमने शब्द सीखे और तुम पंडित हो गए लेकिन कुछ ज्ञानियों ने बीच का रास्ता चुना और बीच का रास्ता ही सदा सही रास्ता है उन्होंने कहा भी और इस ढंग से कहा कि अन कहा भी तुम्हें भूल ना जाए उन्होंने कहा भी और कहने के बीच बीच में खाली जगह छोड़ दी उन्होंने कहा भी और रिक्त स्थान भी छोड़े रिक्त स्थान तुम्हें भरने तुमने छोटे बच्चों की किताबें देखी एक शब्द दिया होता फिर खाली जगह फिर दूसरा शब्द दिया होता और बच्चों से कहा जाता है बीच का शब्द भरो जो परम ज्ञानी हुए उन्होंने यही किया एक शब्द दिया खाली जगह दी फिर दूसरा शब्द दिया बीच की खाली जगह तुम्हें भरनी जो मैं कह रहा हूं वो प्रतिबिंब है जो तुम भरोगे वो चांद होगा सत्य उधार नहीं मिल सकता सत्य को तुम्हें जन्माना होगा सत्य को तुम्हें अपने गर्भ में धारण करना होगा सत्य तुम्हारे भीतर बढ़ेगा जैसे मां के पेट में बच्चा बड़ा होता वो तुम्हारे खून तुम्हारी श्वास मांगता है वो तुम्हारा ही विस्तार होगा जब तक तुम ही चांद ना बन जाओ तब तक तुम चांद को न देख सकोगे इसलिए मैंने बहुत बार कहा और बहुत बार कहूंगा क्योंकि ये बुद्ध के वचन तो अभी बहुत देर तक चलेंगे बहुत बार बहुत जगह कहूंगा एस धम्मो सनंतनो तब तुम स्मरण रखना कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म बहुत है मैं इतना ही कह रहा हूं कि बहुत स्थान है जहां से धर्म का इशारा किया जा सकता है कभी गुलाब के फूल की तरफ इशारा करके कहूंगा एस धम्मो सनंतनो कभी चांद की तरफ इशारा करके कहूंगा एस धम्मो सनंतनो कभी किसी छोटे बच्चे की आंखों में झांक के कहूंगा एस धम्मो सनंतनो क्योंकि चाहे गुलाब हो चाहे आंख हो चाहे चांद हो सौंदर्य एक है बहुत रूपों में परमात्मा प्रकट हुआ है हमारे अंधेपन की कोई सीमा नहीं इतने रूपों में प्रकट हुआ है और हम पूछे चले जाते हैं कहां कहीं एकाध रूप में प्रकट होता तब तो मिलने का कोई उपाय ही ना था इतने रूपों में प्रकट हुआ है सब तरफ से उसने ही तुम्हें घेरा है जहां जाओ वही सामने आ जाता है जिससे मिलो उसी से मिलना होता है सुनो झरने की आवाज तो उसी का गीत सुनो रात का सन्नाटा तो उसी का मौन देखो सूरज को तो उसी की रोशनी और देखो अमावस को तो उसी का अंधेरा इतने रूपों में तुम्हें घेरा है फिर भी तुम चूकते चले जाते हो अभागा होता मनुष्य अगर कहीं उसका एक ही रूप होता एक ही मंदिर होता और केवल वो एक ही जगह मिलता होता तब तो फिर कोई शायद पहुंच ही ना पाता इतने रूपों में मिलता है फिर भी हम चूक जाते हैं तो मैं बहुत जगह तुमसे कहूंगा ये रहा परमात्मा इसका यह मतलब नहीं कि बहुत परमात्मा है इसका इतना ही मतलब ये बहुत उसके रूप है अनेक उसके ढंग है अनेक उसकी आकृतियां लेकिन वो स्वयं इन सभी आकृतियों के बीच निराकार होगा भी क्योंकि इतने रूप उसी के हो सकते हैं जो अरूप हो इतने आकार उसी के हो सकते हैं जो निराकार हो इतने अनंत अनंत माध्यमों में वही प्रकट हो सकता है जो प्रकट होके भी पूरा प्रकट ना हो पाता हो बंदगी ने हजार रुख बदले जो खुदा था वही खुदा है हनुज प्रार्थनाएं बदल जाती हैं बंदगी के ढंग बदल जाते हैं पूजा बदल जाती है कभी गुरुद्वारा कभी मस्जिद कभी शिवाला कभी काबा कभी काशी बंदगी ने हजार रुख बदले न मालूम कितने पत्थरों के सामने सिर झुके और न मालूम कितने शब्दों में उसकी प्रार्थना की गई और न मालूम कितने शास्त्र उसके लिए रचे गए बंदगी ने हजार रुख बदले जो खुदा था वही खुदा है हनुज लेकिन आज तक जो खुदा था वही खुदा है तो बहुत बार मैं कहूंगा एस धम्मो सनातनो यही है सनातन धर्म इससे तुम यह मत समझ लेना कि यही है इससे तुम इतना ही समझना कि यहां भी है और बहुत जगह भी है सभी जगह सभी जगह उसका विस्तार है वो तुम्हारे आंगन जैसा नहीं है आकाश जैसा है यद्यपि तुम्हारे आंगन में भी वही आकाश है